जादू बनाया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिला मन का गुलशन का सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन बन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिला मन का गुलशन रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो फरिश्ते हैं हम बहुत दूर है अपना घर आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर फरिश्ते हैं हम बहुत दूर है अपना घर आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर फरिश्ते हैं हम बिछड़े हुए थे जन्म जन्म से भूल के सारी बातें पर पल में आके आपने बाबा दिला दी सारी यादें नूर है हम प्रभु नैनों के पूरा हुआ है सफर आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर फरिश्ते हैं हम बहुत दूर है अपना घर आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर फरिश्ते हैं हम नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है और ये खूबसूरत आवाज़ आप सुन रहे थे शानदेव जी का जी हाँ बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैदराबाद से आप आए हैं और बहुत ही तेलुगु गीत और हिंदी गीत आप गाते रहते हैं तो एक हिंदी वर्जन आपको सुनाया उन्होंने तो आइए उनसे बात करते हैं ग्लोबल सबमिट में आकर उन्हें कैसा लग रहा है शानदीप जी ग्लोबल सबमिट का अपना अनुभव सुनाइए भाग्य क्योंकि यहाँ इस भूमि पे पैर रखना मैं आठ साल के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ क्या बात है तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और ये जो गाना है हम ये गाना तो मैंने गाया गाया हुआ है सब लोग आशीर्वाद जी जी जी लेकिन अभी इस समिट के लिए नशा मुक्त भारत हम्म, हम्म, अभियान हम्म। के भाग के अंतर्गत हम एक गाना बना के आया अरे तेलुगु गाना है क्या और वो स्पेशली नशा मुक्त भारत के लिए बनाया गया है और वो लिखा है हमारे बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं तेलुगु की मुपल्ली शिवाजी उन्होंने लिखा है अरे वाह और बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं कोटी जी हम्म। जो लेजेंडरी कंपोजर सालू राजेश्वर जी के बेटे हैं हम्म, हम्म। और मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अरे वाह तो वो रिलीज होने जा रहा है कल वो होगा और वो वो वो हम सोचा नहीं था इस मौके पे आना पड़ेगा तो तहे दिल से ये गाना ब्रिजमोहन भाई के चरणों में समर्पित करते हुए इस गाने का जो भी प्रारंभ है वो करने का हम <clears throat> सोच रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल स्वागत तो वो बहुत बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है यहाँ पे आके तो बस वही चीज़ है और उस गाने की दो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल पता चले उस उसमें एक जोश है एक मैसेज है कि जो लोग युवा पीढ़ी और जो लोग नशे से अपने जीवन को व्यक्त कर रहे हैं उनको ये प्रेरित करता है गाना हम्म, हम्म, हम्म। शुरुआत होती है गाने की जय हो भारत जय जय हो नया भारत जय हो भारत जय जय हो नया भारत लुपेरु पो సలిపి సాధించిన త్యాగ ఫలం అంతులేని శరణార్థుల పాలించిన పుణ్యఫలం మేడి పండులా నేడు మారుతోందిరా మత్తు మందులో భవిత తూగుతోందిరా విష సంస్కృతి బాట పట్టి కాకండోయ్ శిథిలం శివశక్తుల ప్రేరణతో సాధిద్దాం విజయం जय हो भारत जय जय हो नया भारत जय हो भारत जय जय हो नया भारत वाह क्या बात बहुत सुंदर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए गीत के लिए और एक अच्छे मौके पर आप इसे लॉन्च कर रहे हैं बहुत बहुत साधुवाद आपको और संदीप जी मैं चाहूँगा कि आपको ये ब्रह्मा कुमारी से कैसे आना हुआ या कैसे आप ब्रह्म कुमारी के टच में आए जी मैं बहुत सारे गाने तो मैंने फिल्मों में गाए हैं जी जी गाते गाते रहते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे डिवोशन गीत भी गाते हैं हम्म, उसी हम्म, हम्म। अवसर पर ब्रह्म कुमारी एक संदर्भ में मुलाकात हुई उन्होंने एक एल्बम किया था मैंने तेलुगु में हम्म, हम्म, हम्म। तो वहाँ पे पहली मुलाकात हुई थी वहाँ पे पहली बार पता चला था कि शिव बाबा कौन है ब्रह्म बाबा कौन है और पूरे कॉन्सेप्ट ज्योतिबिंदु स्वरूप का और बहुत सारी चीज़ों से अवगत हुआ था उस क्योंकि गानों में सब था हाँ, हाँ, हाँ. तो जब गाना गाते हैं तो वो चीज़ें आपको समझने के लिए आप पूछा अर्थ उसका अर्थ क्या है उसका भाव क्या है तो उस दौरान सब कुछ पता चल गया तो वो पहली बार हुआ था उसके बाद मैं मुझे सेंटर में बुलाया गया था हम्म, हम्म, हम्म। बोली गया था मैं अरे वाह बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे एक सेशन भी अटेंड किया था मैंने जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से एक भाई आए हुए थे जेम्स समथिंग उनका नाम याद नहीं मुझे जी जी जी उन्होंने वो राजयोगी थे बहुत उन्होंने एक दो दिन का सेशन लिया था हम्म, तो हम्म। वो अटेंड किया था मैंने बहुत ही बहुत ज्यादा ही प्रभावित हुआ था हम्म, उसके बाद फिर वैसे धीरे धीरे क्रम चलता गया जुड़ा और गाने बहुत सारे गाए मैंने प्रोग्राम किया था माउंट आबू में भी आठ साल पहले आया था समिट में वो भी ग्लोबल समिट था उसमें एक दिन मैंने परफॉर्मेंस दी थी बहुत बढ़िया यूजुअली कैसे होता है बाकी जगह में जब परफॉर्मेंस देते हैं तो वो अप्रिसिएशन एक तरफ होता है लेकिन हाँ, यहाँ हाँ। पे जब मैंने गाना गाया और मैं यहाँ की सड़कों पर घूम रहा था तो हर एक योगी आके पहचान के आपने कल गया था <laughs> इतना अच्छा लगा ऐसे वो ब्लेसिंग्स बरसा रहे थे मुझे बहुत ही अलग लगा अलग रेगुलर नहीं लगा क्योंकि मन तहे दिल से सब लोग ब्लेसिंग्स दे रहे थे तो मुझे बहुत ही आनंद आया और वो बात मुझे अभी भी याद है क्योंकि यहाँ पे जब रखा तो जी संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर अनुभव साझा करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप यूं ही आते रहें और अपना अनुभव रेडियो के लोगों को सुनाते रहें thank you thank you so much Om Shanti रिश्ते हैं हम बहुत दूर है अपना घर आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर फरिश्ते हैं हम बहुत दूर है अपना हैं हम